दिनों में भारत की समस्याएं और हमारी प्रतिभा इस संबंध में कुछ बातें मैंने कही पहले दिन पहले सूत्र पर मैंने ये कहा कि भारत की प्रतिभा अविकसित रह गई है पलायन एस्केपिज्म के कारण जीवन से बचना और भागना हमने सीखा है जीवन को जीना नहीं और जो भागते हैं वे कभी भी जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकते भागना कोई हल नहीं है समस्याओं से पीठ फेर लेना और आंख बंद कर लेना कोई समाधान नहीं समस्याओं को ही इंकार कर देना झूठा कह देना माया कह देना समस्याओं से आंख बंद कर लेना तो है लेकिन इस भांति समस्याओं से मुक्ति नहीं मिलती मन को राहत मिलती है कि समस्याएं हैं ही नहीं लेकिन समस्याएं जीवित रहती हैं वे हैं और समस्याएं जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाती हैं और जो समस्या बिना हल की हुई रह जाती है वो मस्तिष्क में घाव और बीमारी की गांठ बन जाती है कॉम्प्लेक्स बन जाती है और भारत ने अपने इतिहास में समस्याएं इतनी इकट्ठी कर ली है कि आदमी उनके नीचे दब गया जैसे पहाड़ के नीचे दब गया हो दूसरे दिन मैंने कहा कि भारत की प्रतिभा के विकास में दूसरी बात बन गई है और वो है परंपरावाद ट्रेडिशनलिज्म परंपरावादी चित्त हमेशा पीछे की तरफ देखता है आगे की तरफ उसकी आंखें नहीं होती समस्याएं आगे से आती हैं और परंपरावादी चित्त के समाधान पीछे से आते हैं समस्याएं सदा आगे से आती हैं और समाधान सदा पीछे से आते हैं उनका कोई तालमेल नहीं बैठ पाता उनमें कोई संबंध नहीं हो पाता समाधान अलग इकट्ठे होते चले जाते हैं समस्याएं अलग इकट्ठी होती चली जाती हैं और एक चमत्कार घटित होता है समस्याओं के बोझ से भी हम दब जाते हैं और समाधानों के बोझ से भी भारत की प्रतिभा को समस्याएं भी नुकसान पहुंचा रही हैं और भारत के तोते की तरह सीखे गए समाधान भी नुकसान पहुंचा रहे हैं यदि समाधान पकड़ लिए जाएं और समस्याओं से उनका कोई मेल ना होता हो तो वे समाधान नए समाधान खोजने में बाधा बनते हैं और हमें ये भ्रम पैदा होता है कि हम तो समाधान जानते हैं भारत को ज्ञानी होने का भ्रम पैदा हो गया है और इसलिए भारत ज्ञानी नहीं हो सकता है नहीं हो पा रहा हम अपने अज्ञान में ठहर गए हैं क्योंकि ज्ञानी होने का भ्रम पैदा हो गया एक छोटी सी कहानी से मैं ये बात साफ करूं और फिर तीसरे सूत्र पर आपसे बात करूं एक छोटी कहानी आपने सुनी होगी सुना होगा बहुत पुरानी कहानी है सुना होगा कि एक राजमहल के चूहों ने बैठक की और विचार किया कि हम बहुत परेशान हैं बिल्लियां सदा से हमें परेशान कर रही हम क्या करें बचाव का उपाय तो उन चूहों के बूढ़े चूहों ने कहा एक ही रास्ता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए लेकिन घंटी कोई कैसे बांधे घंटी कौन बांधे फिर हजारों साल बीत गए इस बात को जब भी बिल्ली ने चूहों को परेशान किया चूहों ने सभा की और फिर वही समाधान बूढ़ों ने दिया कि घंटी बांध दो लेकिन फिर चूहों ने कहा घंटी कौन बांधे घंटी कैसे बांधी जाए समाधान तो मालूम है कि बिल्ली के गले में घंटी बंध जाए घंटी बजती रहे तो चूहे सावधान हो जाएं और बिल्ली हमला न कर पाए लेकिन ये समाधान समाधान ही है बिल्ली चूहों को खाती ही चली जाती है और ये समाधान पूरा हो नहीं पाता और चूहों के पुराणों में लिखा है कि ये तो पहले से ही समाधान गुरुओं ने दिया हुआ है ऋषि मुनियों ने लेकिन समाधान पूरा नहीं हो सकता फिर मैंने सुना है कि 20वीं सदी में फिर एक महल में यही मुसीबत तो ये मुसीबत सदा रहेगी जब तक चूहे हैं बिल्ली है मुसीबत रहेगी फिर चूहे इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा क्या करें कैसे बिल्ली से बचे फिर बूढ़े चूहोने का समाधान तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है ऋषि मुनियों ने बताया हुआ है कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दो लेकिन फिर सवाल ये है कि घंटी कौन बांधे घंटी कैसे बांधे दो जवान चूहोने का घंटी कल सुबह हम बांध देंगे बूढ़े हंसने लगे और उन्होंने कहा ना समझ हो बच्चे हो घंटी कभी बांधी नहीं गई बांधोगे कैसे लेकिन दूसरे दिन सुबह उन चूहों ने घंटी बांध दी और बूढ़े बहुत हैरान हुए ये तो कभी ना हुआ था और उन जवान चूहों से पूछने लगे तुमने घंटी बांधी कैसे उन जवान चूहों ने कहा आपने समाधान पकड़ लिया और ये बात भी पकड़ ली थी कि ये हो नहीं सकता और जो नहीं हो सकता उसको पकड़ा था और नहीं हो सकता ये भी पकड़ा था इसलिए सोचने के आगे द्वार बंद हो गए थे ये तो बहुत आसान बात थी उन दो जवान चूहों का एक केमिस्ट की दुकान में आना जाना था वो नींद की गोली निकाल रहा है और बिल्ली के दूध में गोली डाल दी और घंटी बांध दी बिल्ली सो गई बेहोश हो गई और घंटी बांध दी गई लेकिन हजारों साल से बूढ़े चूहे यही कह रहे थे कि समाधान यही है और ये हो नहीं सकता दोनों बातें पकड़े हुए थे सोचना मुश्किल हो गया था भारत के मन में भी समस्याएं पुरातन हैं समाधान भी पुरातन और करीब करीब सब समाधान ऐसे हैं कि उनके साथ ये भी जुड़ा है कि ये हो नहीं सकता हिंसा है अहिंसा समाधान है और हम सब जानते हैं अहिंसा हो नहीं सकती है तो गरीबी समस्या है अपरिग्रह समाधान है कि धन का त्याग कर दो और ये भी हम जानते हैं कि ये हो नहीं सकता समाधान है वो भी हम जानते हैं नहीं हो सकता ये भी हम जानते हैं और इन सबको पकड़े हुए बैठे हैं समस्याएं खाए चली जाती हैं समाधान दोहराए चले जाते हैं नहीं हो सकता है ये भी जाने चले जाते हैं प्रतिभा के लिए नए उपाय नए आयाम नए द्वार तोड़ने का मार्ग नहीं रह जाता तीसरे सूत्र में आपसे मैं कहना चाहता हूं जो समाज भी आदर्शवादी होगा वो समाज सड़ जाएगा मर जाएगा वो समाज विकसित नहीं हो सकता यथार्थवादी समाज होना चाहिए प्रतिभा का विकास यथार्थवाद के मार्ग से तो होता है आदर्शवाद के मार्ग से नहीं होता है वो जो आइडियलिस्ट है वो बातें तो आकाश की करता है और समस्याएं जमीन की है और उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन वे आकाश की हैं और समाधान चाहिए पृथ्वी पर और पृथ्वी तो उसका कोई संबंध नहीं भारत अच्छे लोगों के चक्कर में है और अच्छी बातों के चक्कर में और अच्छे लोगों का चक्कर उतना ही खतरनाक है जैसे किसी आदमी के हाथ में सोने की जंजीरें डाल दी जाए जंजीरें तो खतरनाक होती हैं लेकिन सोने की जंजीरें और खतरनाक होती क्योंकि वे जंजीरें भी होती हैं और सोने की वजह से उनको छोड़ने की हिम्मत भी जुटानी मुश्किल हो जाती भारत के चित्त पर जो जंजीरें हैं वो जंजीरें भी हैं और साथ सोने की हैं अच्छी अच्छी बातों की हैं संतों की हैं साधु सन्यासियों की हैं उनको छोड़ना भी मुश्किल है और वो जंजीरें भी हैं और वो चित्त को पकड़े हैं वो चित्त को विकसित भी नहीं होने देती वो चित्त को नए ढंग से सोचने की हिम्मत नए ढंग से सोचने का साहस भी नहीं जुटाने देती आदर्शवाद का क्या अर्थ होता है आदर्शवाद का अर्थ होता है जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है जो होना चाहिए वो महत्वपूर्ण है और जो है वही वस्तुता महत्वपूर्ण है जो होना चाहिए उसका कोई भी मूल्य नहीं है क्योंकि वो नहीं है जो होना चाहिए वो है नहीं उसका महत्वपूर्ण है आदर्शवादी चित्त में और जो है उसका कोई मूल्य नहीं और जो है उससे ही सारे मार्ग निकल सकते हैं बीज वृक्ष हो सकता है लेकिन बीज वृक्ष है नहीं बीज है बीज वृक्ष होने की संभावना है संभावना हो भी सकती है नहीं भी हो सकती लेकिन बीज है होने ना होने का सवाल नहीं है और अगर बीज कहीं वृक्ष होने के सपनों में पड़ जाए सपने देखने लगे और सपने में मानने लगे कि मैं वृक्ष हो गया हूं तो बीज बीज रह जाएगा और वृक्ष कभी नहीं हो पाएगा बीज को अगर वृक्ष भी होना है तो अपने बीज होने को ही समझना पड़ेगा उसके बीज होने से ही वो मार्ग निकलेगा जो वृक्ष तक पहुंचता है लेकिन बीज एक सपना देखने लगे कि मैं वृक्ष हो गया हूं और वृक्ष होने की कल्पना में खो जाए दिवा स्वप्न में खो जाए तो बीज बीज ही बना रहेगा वृक्ष सपना होगा और वृक्ष वो कभी भी नहीं हो पाए भारत मनुष्य जो है उसे भुलाने की कोशिश में लगा है और जो नहीं है और जो होना चाहिए उसकी तस्वीर मनुष्य के चित्र पर उसका ढांचा उसकी आकृति को खोदने में लगा है हम एक एक आदमी को समझा रहे हैं कि तुम स्वयं परमात्मा हो सच्चाई ये है कि हर आदमी ये तथ्य आदमी परमात्मा हो सकता है ये संभावना है लेकिन हम समझा रहे हैं आदमी परमात्मा है साधु सन्यासियों के पास पापी बैठकर बहुत सिर हिलाते हैं और कहते हैं धन्य महाराज बहुत ठीक आप कह रहे हैं क्योंकि वो साधु सन्यासी समझाते हैं क्या वो समझाते हैं तुम परमात्मा हो तुम्हारे भीतर स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म का निवास है तुम वही हो और पापी बड़ा प्रसन्न होता है अपने को भूलने में सुविधा मिल जाती है वो जो है उससे बचने का रास्ता मिल जाता है सपने में वो ब्रह्म हो जाता है और वस्तुतः वो पशु बना रहता है और उसके पशु होने में और ब्रह्म होने में एक दीवाल खड़ी हो जाती है होता है पशु उसे छिपा लेता है जो नहीं होता उसका अभिनय करने लगता है और इस तरह भारत का पूरा व्यक्तित्व स्प्लिट पर्सनैलिटी है पूरा व्यक्तित्व खंड खंड हो गया दो बड़े खंडों में टूट गया जो हम नहीं है वो हम अपने को मानते हैं और जो हम हैं वो हम अपने को जानना भी नहीं चाहते मानने की तो बात दूर है हम उस तरफ आंख भी नहीं उठाना चाहते बड़ी तरकीब है ये आदमी पशु है ये भारत में आज तक स्वीकृत नहीं हो सका और आदमी पशु है पशुओं की बड़ी जमात का ही एक हिस्सा है और जब तक हम आदमी की इस पशुता के तथ्य को ये रियलिटी है ये यथार्थ है इसको स्वीकार नहीं करते तब तक इसके रूपांतरण का भी कोई मार्ग नहीं मिल सकता है हमने क्या रास्ता निकाला है हमने पशुता को इंकार ही कर दिया हमने परमात्मा होने को स्वीकार ही कर लिया हमारे शास्त्र घोषणा कर रहे हैं आदमी परमात्मा है और वो जो हम हैं इस परमात्मा के शोरगुल में उसको छिपाए बैठे ऊपर बातें चलती जाती हैं आदर्श की भीतर वो जो असली आदमी है वो मौजूद है और तब एक बड़ा तनाव पैदा होता है बड़ी एंजाइटी बड़ी चिंता पैदा होती है कि क्या है और एक बड़ा दुख पैदा होता है बड़ा खिंचाव पैदा होता है कि क्या है हम हैं कुछ और होने के कुछ और में भ्रम में पड़े हुए हैं और जो हम नहीं हैं उसको दिखाने का अभिनय कर रहे हैं उसे दिखाने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं और जो हम हैं उसे छिपाने की चेष्टा कर रहे हैं भारत की प्रतिभा के विकास में एक जिच पैदा हो गई है एक खाई पैदा हो गई है और वो खाई है यथार्थ और आदर्श के बीच की खाई और वो खाई इतनी बड़ी है कि हमने एक तरकीब से उसे पूरा कर लिया यथार्थ को हमने भुला ही दिया है और आदर्श को हमने स्वीकार कर लिया है कि हम यह बीज ने मान लिया है कि वो वृक्ष है और वृक्ष होने की यात्रा बंद हो गई है मनुष्य की पशुता को स्वीकार करने में भी बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि हमारे अहंकार को चोट लगती है जब डार्विन ने पहली दफा ये बात कही और डार्विन ने मनुष्य के आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक बहुत बड़ा सूत्र स्थापित किया कि आदमी पशुओं से आता है तो सारी दुनिया के धार्मिक लोग डार्विन के विरोध में खड़े हो गए उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे हो आदमी और पशुओं से कभी नहीं आदमी तो परमात्मा से पैदा हो आदमी तो परमात्मा है आदमी तो परमात्मा का पुत्र है पशुओं का पुत्र झूठ है ये बात ये हम स्वीकार नहीं कर सकते लेकिन क्यों क्योंकि पशुओं की संतति होने में अहंकार को चोट लगती है वो जो आदमी ने अपनी ही कल्पना में अपने को परमात्मा मान रखा है वो खत्म हो जाता है लेकिन तथ्य यही है क्या है हमारे भीतर जो पशुओं के भीतर नहीं है वो जो पशुओं के भीतर है वही हम में नए नए रूपों में प्रकट हुआ है वो जो पशुओं के भीतर है उसी श्रृंखला की हम आगे की एक कड़ी है लेकिन आदमी बेईमान है और उसने अपने को धोखा दे रखा है और जो चीजें पाश्विक हैं उनको भी वो बहुत ऊंचे सिद्धांतों के नाम पर सोने चांदी का मुलम्मा चढ़ा के पेश करता है अगर मेरी पत्नी किसी की तरफ मुस्कुरा कर देख ले तो मेरे दिल में आग लग जाती है छुरा निकल आएगा बाहर प्रेम वगैरह सब विलीन हो जाएगा वो वही की वही बात है एक पशु की मादा अगर दूसरे पशु की तरफ देख ले तो खूंखार पशु फौरन दुश्मन पर टूट पड़ेगा वो उसके बर्दाश्त के बाहर लेकिन हमने बड़े अच्छे सिद्धांत बनाए हुए हैं कि ये पत्नी धर्म है ये पति धर्म है ये एक पत्नी व्रता है ये प्रेम एक के साथ ही हो सकता है और वो जो पशुता की वृत्ति है कि प्रेम भी पोजेशन प्रेम भी मालकियत चाहता है प्रेम भी मालिक बनने का ही एक ढंग है वो जो पशु की प्रवृत्ति है वो काम कर रही लेकिन अच्छे सिद्धांतों में हम उसको घेर रहे हैं पशु अपनी जमीन पर अगर दूसरे पशु को आ जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता वो जिस जमीन पर रहता है जिस झाड़ के नीचे रहता है उसके नीचे दूसरे को ठहरना बर्दाश्त नहीं कर सकता हार जाए तो ठहर सकता है जीत जाए तो हटा देगा दुश्मन को लेकिन शेयर नहीं कर सकता बांट नहीं सकता व्यक्तिगत संपत्ति उसी पशुता का हिस्सा है मेरी जमीन मेरा मकान मेरा घेरा मेरे मकान की बाउंड्री की दीवार इस तरफ मत आना एक इंच जमीन छोड़ना मुश्किल और हम आदमी और हम परमात्मा हैं और भीतर वही पशु बैठा हुआ है जो कहता है मेरी जमीन के घेरे पे मत घुसना लेकिन पशु बेचारे सीधे साफ हैं वे जैसे हैं वैसे हैं उन्होंने कोई फिलोसफीज खड़े करके धोखे की आड़ नहीं ली मैंने सुना है एक आदमी और उसकी पत्नी ने यह तय किया हुआ था कि दोनों में से जो पहले मर जाए वो मरने के बाद जो जीवित है उससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करे और उस जन्म उस जीवन के संबंध में बताए जहां वो पहुंच गया है पति को मरे हुए एक वर्ष हो गया पत्नी रोज राह देखती रही कि पति संपर्क साधेगा अब साधेगा अब लेकिन नहीं कुछ पता नहीं चला कोई उपाय भी नहीं था सिवाय प्रतीक्षा के लेकिन एक सांझ पत्नी अखबार पढ़ रही थी अचानक उसे पति की आवाज सुनाई पड़ी और पति ने कहा सुनती हो क्या कर रही हो क्या खबर है आज की और पत्नी तो हैरान हो गई वो ऐसे पूछ रहा है जैसे अभी दस मिनट पहले किनारे के चौरस्ते पर चाय पीने गया हो लौट के आया हो लेकिन एक वर्ष हो चुके उससे मरे हुए पत्नी ने चौंक के देखा वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता उसने खुशी से कहा अच्छा तो तुम हो कहा हो मजे में तो हो उस आवाज ने कहा बहुत मजे में हूं और देखती हो पास के खेत में जो गाय चल रही है उस गाय की चमड़ी बड़ी मुलायम है बहुत सुंदर है उस पत्नी ने कहा और सुनाओ उस जीवन के बाबत उसे बड़ी हैरानी हुई कि गाय के बाबत बता रहा है और बताओ उस जीवन के बाबत उस आदमी ने कहा इतनी सुंदर गाय मैंने नहीं देखी बहुत सुंदर है बहुत आकर्षित करती है उसकी पत्नी ने कहा छोड़ो उस मूर्ख गाय को उससे क्या लेना देना है सवाल यह है मैं जानना चाहती हूं उस जीवन के संबंध में तुम, जहां हो वहां के संबंध में कुछ बताओ उस आदमी ने कहा शायद मैं बताना भूल गया कि मैं सांड हो गया हूं और सिवाय गाय के मुझे और कुछ भी नहीं सूझ रहा है लेकिन एक पशु सीधा है साफ है वो कहता है मैं सांझ हो गया हूं मुझे गाय के सिवाय कुछ भी नहीं सूझ रहा है पुरुष को स्त्री के सिवाय कुछ भी नहीं सूझता स्त्री को पुरुष के सिवाय कुछ भी नहीं सूझता लेकिन हम सीधे और साफ भी नहीं हम न मालूम कितनी कल्पनाओं में और न मालूम कितने आदर्शों में तथ्यों को छिपाएंगे छिपाएंगे और ऐसा कर देंगे कि पहचानना मुश्किल हो जाए कि क्या है पहचानना मुश्किल हो जाए कि क्या है चक्र के भीतर चक्र और डब्बे के भीतर डब्बों को छिपाते चले जाएंगे और जो छिपाएंगे वो वही पशुता है उस पशुता को छिपाकर आदर्शों की खोल में आदर्शों के वस्त्रों में हम छिपा तो सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते छिपाना मिटाने का उपाय नहीं वो मौजूद रहेगी नए नए रूपों में प्रकट होती रहेगी नई नई बातों में प्रकट होती रहेगी अच्छे अच्छे शब्दों में जाहिर होती रहेगी नए नए रूप लेगी हिंसा भीतर है सेक्स भीतर है ब्रह्मचरी की आड़ में उसे छिपाया जा सकता है लेकिन वो नए रूपों में प्रकट होना शुरू हो जाए वो नए सपनों में प्रकट होने लगेगा वो नए मार्गों से प्रकट होने लगेगा और तब कठिनाई हो जाएगी ब्रह्मचरी संभव है लेकिन सेक्स को छिपा कर नहीं सेक्स को जानकर सेक्स को पहचान कर उसके अतिक्रमण से अहिंसा संभव है लेकिन हिंसा को छिपा कर नहीं हिंसा को जानकर हिंसा को पहचान कर परमात्मा होना संभव है लेकिन पशु को वस्त्रों में ढांक कर नहीं पशु को पहचान कर उखाड़ कर पशु से मुक्त होकर लेकिन हम उल्टा ही काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं छिपाने का काम और छिपाने को हमने बदलाहट का नाम दिया हुआ है छिपाना रूपांतरण नहीं है और इस छिपाने में जितनी शक्ति लगती है उससे बहुत कम शक्ति में क्रांति हो सकती है रूपांतरण हो सकता है जीवन भर छिपाते हैं छिपाते हैं दबाते हैं किसको दबाते हैं किसको छिपाते हैं अपने को ही कौन दबाएगा कौन छिपाएगा हम ही हम ही अपने को दबाएंगे छिपाएंगे ये संभव कैसे हो पाएगा किसी न किसी कोने में हम जानते रहेंगे कि सत्य क्या है फिर धीरे धीरे हम उसे भी नहीं जानना चाहेंगे हम दूसरे को भी धोखा देंगे और अंततः अपने को भी धोखा देंगे आदर्शवाद अंततः मनुष्य को सेल्फ डिसेप्शन आत्मवंचना में ले जाता है अपने को भी धोखा देना वो शुरू कर देता है लेकिन आत्मवंचना के रास्ते इतने सूक्ष्म हैं कि अगर पहचान में ना आए तो जिंदगी अनेक जिंदगियां भी बीत सकती हैं और वो पहचान में ना आए मैं एक सन्यासी के पास गया हुआ था उन्होंने सब छोड़ दिया है घर द्वार छोड़ दिया है मकान छोड़ दिया है धन छोड़ दिया है पत्नी बच्चे छोड़ दिए वो कहते हैं मैंने सब छोड़ दिया है लेकिन नए रूपों में उन्होंने सब फिर बसा लिया है बड़ा आश्रम बन गया है और जब भी कोई जाए तो वो दिखाते हैं कि इस बिल्डिंग में एक लाख रुपया खर्च हुआ है ये जमीन इतने सौ एकड़ है इसके दाम इतने हैं और उन्होंने सब छोड़ दिया है ये तो आश्रम की बात कर रहे हैं वो और ये आश्रम किसका है ये आश्रम मेरा है मैं जब उनसे मिलने गया तो वो एक बड़े तखत पर बैठे हुए थे उनके तखत के नीचे एक छोटा तखत लगा हुआ था उस तखत पर एक दूसरे सन्यासी बैठे हुए थे उस तखत के भी नीचे जमीन पर और सन्यासी बैठे हुए थे सबसे बड़े तखत पर बैठे हुए सन्यासी जो गुरु हैं जिनका वो आश्रम है जिन्होंने सब छोड़ दिया है उन्होंने मुझसे कहा आपको पता है कि छोटे तखत पर बैठे हुए सज्जन कौन है मैंने कहा मुझे पता करने की कोई जरूरत नहीं है अपना ही पता हो जाए वही बहुत है फिर भी आप चाहते हो तो बता दें उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं इसलिए ऐसा कह रहे हैं ये जो आदमी बैठा हुआ है साधारण आदमी नहीं है यह हाई कोर्ट का जस्टिस था इसने सब छोड़ दिया है लेकिन बहुत विनम्र आदमी है कभी मेरे साथ तखत पर नहीं बैठता हमेशा छोटे तखत पर बैठता है मैंने कहा विनम्रता तो जाहिर है छोटे तखत से पता चल रही है लेकिन आपको उनकी विनम्रता में जो मजा आ रहा है वो क्या है आपको बड़ा मजा आ रहा है कि आदमी बड़ा विनम्र है विनम्रता आपके अहंकार को तृप्ति दे रही है अगर ये आपके साथ तखत पर बैठे तो तकलीफ होगी और मजा ये है कि ये आपसे छोटे तखत पे बैठा है लेकिन दूसरे सन्यासियों से ऊंचे तखत पे बैठा है और सन्यासी जमीन पे नीचे बैठे हुए और ये आपके मरने की राह देख रहा है कि जब आप मर जाओ तो ये बड़े तखत पे बैठ जाए नीचे वाला कॉम्पिटिटर छोटे तखत पे आ जाए और ये भी लोगों से कहे कि बहुत विनम्र आदमी जानते हैं ये कौन है ये मिनिस्टर था ये कोई साधारण आदमी नहीं और ये जो बन के बैठा हुआ है आंख बंद किए हुए बिल्कुल सीधा साधा बन के बैठा हुआ लेकिन बैठा तो छोटे तखत पर है छोटे तखत के नीचे भी लोग हैं हाई की चल रही है नीचे ऊपर पद चल रहे हैं बच्चों का खेल चल रहा है और ये आदमी कहता है मैं सब छोड़ के आ गया और ये आदमी भी कहता है मैं सब छोड़ के आ गया लेकिन क्या छोड़ के आ गए वो खेल वो समाज के अहंकार का खेल गुजारी वो एक शक्ल में चलता था वहां पड़ोस वाले का मकान छोटा था अपना मकान बड़ा था वो वहां चल रहा था अब वो यहां चल रहा है कि पड़ोस वाला नीचे तखत पर बैठा है हम ऊंचे तखत पर बैठे खेल जारी शक्ल बदल गई वो पशुता का खेल जारी लेकिन बदली हुई शक्ल में पहचानना और मुश्किल हो गया और कठिन हो गया एक गांव में मैं गया वहां एक यज्ञ था और उस यज्ञ में कोई साठ सन्यासी इकट्ठे हुए थे यज्ञ करने वालों ने चाहा था कि साठों सन्यासी एक ही मंच पर एक साथ बैठे तो बड़ा सुखद होगा लेकिन उस बड़ी मंच पर एक एक सन्यासी ने बैठ के ही व्याख्यान दिया क्योंकि साठों एक साथ एक ही तल पर बैठने को राजी नहीं हुए किसी ने कहा कि मेरे सोने का सिंहासन चाहिए मैं उसी पर बैठूंगा मैं जगत गुरु हूं मैं कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं मैं फला पीठ का शंकराचारी हूं मेरा चार इंच ऊंचा होना चाहिए तखत साठ आए थे लेकिन कोई किसी से नीचे ऊंचे बैठने को राजी नहीं था तब एक ही उपाय था कि उस बड़ी मंच पर एक एक बैठकर बोले एक एक बैठकर ही बोला वो साठ इकट्ठे नहीं बैठाए जा सके इन्होंने सब छोड़ दिया है लेकिन चार इंच तखत नीचा हो कि ऊंचा ये इनसे नहीं छूट पाया बड़ी अद्भुत बात है छोटे छोटे बच्चे खड़े हो जाते हैं कुर्सियों पर अपने बाप से कहते हैं हम आपसे बड़े हैं देखते हैं हम आपसे ऊंचे हैं उन बच्चों को क्षमा किया जा सकता है बच्चे हैं लेकिन एक सन्यासी जगत गुरु होने का जिससे भ्रम है ऐसा आदमी कहता है चार इंच ऊपर मेरा तखत होना चाहिए इसको चाइल्ड कहें बच्चा कहें क्या कहें सब छोड़ दिया है लेकिन क्या छोड़ दिया है सब मौजूद है नई शक्लों में मौजूद है हमारी जो पशुता है वो मिट नहीं पाती क्योंकि हम आदर्श ओढ़ लेते हैं पशुता दूसरे मार्गों से निकल के प्रकट होनी शुरू हो जाती है ये बहुत हैरानी की बात है हिटलर जैसे लोगों में हिटलर बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी आदमी को कि मेरे साथ खड़ा हो हिटलर का कोई नाम नहीं ले सकता कि कोई कह दे हिटलर फ्यू हरेर ही कहना पड़ेगा आदर सूचक शब्द ही उपयोग करने पड़ेंगे कोई हिटलर के कंधे पर हाथ नहीं रख सकता हिटलर का अहंकार लेकिन किसी जगत गुरु के कंधे पर हाथ रख सकते हैं किसी महात्मा के कंधे पर हाथ रख सकते हैं महात्मा बड़ा मुस्कुराता है जब आप उसके पैर में सिर रखते हैं लेकिन कंधे पर कभी हाथ रख के देखा तो महात्मा एकदम नाराज हो जाएगा महात्मा एकदम विलीन हो जाएगा और भीतर का हिटलर दिखाई पड़ने लगेगा वो भीतर हिटलर बैठा हुआ है गेरुआ वस्त्र से कोई हिटलर बदल जाता है लेकिन हिटलर फिर भी एक अर्थों में ईमानदार और साफ गेरुआ वस्त्र के भीतर छिपा हुआ फ्यू जो है वो उतना साफ नहीं है उतना स्पष्ट नहीं है वो ज्यादा धोखे में दूसरे को धोखा देना तो ठीक भी है लेकिन वो खुद के भी धोखे में है कि मैं बदल गया मैं दूसरा आदमी हो गया हूं मैं महात्मा हो गया हूं भारत आत्मवंचना में तल्लीन है और इसलिए भारत के पास जिसको चरित्र कहें वो पैदा नहीं हो पाया आज पृथ्वी पर हमसे ज्यादा चरित्रहीन समाज खोजना मुश्किल है लेकिन हम कहेंगे हमसे तो ज्यादा चरित्रहीन हमसे ज्यादा माला जपने वाले लोग कहां हैं हमसे ज्यादा मंदिर जाने वाले लोग कहां हैं हमसे ज्यादा राम राम कहने वाले लोग कहां हैं हमसे ज्यादा रामायण और गीता पढ़ने वाले लोग कहां हैं हम तो बहुत चरित्रवान हैं लेकिन इन चीजों से चरित्र का क्या संबंध है मेरे एक मित्र हैं दिल्ली में एक डॉक्टर हैं एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वो लंदन गए थे लौट कर आए तो मुझे वहां के कई घटनाएं सुनाने लगे एक घटना मुझे ख्याल आती हाइट पार्क में 500 डॉक्टरों की एक बैठक थी खाना पीना भी था गपशप भी थी मिलना जुलना भी था वे मित्र भी वे दिल्ली के डॉक्टर भी वहां गए थे जहां ये बैठक चल रही है लोग गपशप कर रहे हैं खा पी रहे हैं एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं वहीं पास की एक बेंच पर एक युवक और एक युवती आंख बंद किए एक दूसरे के गले में हाथ डाले लीन बैठे हैं जैसे किसी और दुनिया में खोए हो मेरे मित्र डॉक्टर का मन कॉन्फ्रेंस में नहीं रहा भारतीय का मन वो उस बेंच पर जाने लगा सीधा देख भी नहीं सकते तिरछी आंखों से देखने लगे और मन में होने लगा कैसी चरित्रहीनता है ये क्या चरित्रहीनता है कि एक जवान युवक और एक जवान युवती 500 लोगों के सामने गले में हाथ डाले हुए बैठे ये क्या बात है ये बहुत बुरा है कोई पुलिस वाला आके इनको रोकता क्यों नहीं है बार बार मन वहीं जाने लगा मुझे कहने लगे कि मेरे पड़ोस के डॉक्टर ने एक डच ने मेरे कान में कहा कि मित्र बार बार वहां मत देखें लोग आपको चरित्रहीन समझेंगे ये उनका काम है कि वो क्या कर रहे हैं आप क्यों परेशान हुए जा रहे हैं और पुलिस बुलाने की आड़ में उनके चरित्रहीनता की आड़ में और कोई रस तो नहीं है रस दूसरा है और अगर भीतर ये डॉक्टर अपने मन में घुसे और मैंने कहा कि अपने मन में जाओ थोड़ा अपने रस को खोजो कि रस क्या है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस युवक की जगह तुम बैठना चाहते हो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मौका तुम्हें मिलना चाहिए वो कोई दूसरा लिए ले रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस वाले को बुलाने के पीछे ईर्षा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस चरित्रवान और चरित्र होने के ख्याल में तुम उन दो युवकों को मिलते हुए देखने का भी रस लेना चाहते हो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस जवान लड़की को देखने का मन बार बार वहां ले जा रहा है लेकिन चरित्र की आड़ में वहां देखने जा रहे हो सीधे भी नहीं जा रहे कि सुंदर युवती को देखना है तो सीधे देख लो उसमें भी एक चरित्र होगा कि युवती सुंदर है और हम देखना चाहते हैं ये भी चरित्र होगा एक लेकिन युवती को कहीं इस बहाने तो नहीं देख रहे हो कि देखना भी चाहते हैं लेकिन चरित्र की आड़ ये बहुत गलत हो रहा है ये हम नहीं होने देंगे सारे जगत में धीरे धीरे मनुष्य के यथार्थ को स्वीकृति मिलनी शुरू हो गई है वो जैसा है हम अस्वीकार कर रहे हैं जैसा है उसे और जैसा वो नहीं है उसको आरोपित कर रहे हैं उसको इम्पोज कर रहे हैं उसको ऊपर ठापते जा रहे हैं और चरित्रवान बनते जा रहे हैं तो चरित्र हमारा ऊपर होता है लेकिन चरित्र की बातों की आड़ में दुष्चरित्रता छिपी होती है उस आड़ के पीछे कुछ दूसरी जलन कोई दूसरी पीड़ा कोई दूसरी इंस्टिंक्ट कोई दूसरी वृत्तियां काम करती आदर्शवादी इसीलिए दूसरों को बहुत गाली देता हुआ दिखाई पड़ता है उस गाली देने में ईर्षा है बदला है रिवेंज है प्रतिशोध है वो जो स्वयं नहीं कर पाया उसका क्रोध भी है लेकिन जिस व्यक्ति का जीवन रूपांतरित होता है जिसके भीतर क्रांति घटित होती है जहां अंधकार है वहां प्रकाश आता है जहां पशु है पशु धीरे धीरे विसर्जित होता है और परमात्मा प्रकट होता है उसके भीतर दूसरों के प्रति दया तो हो सकती है क्रोध नहीं हो सकता और उसके प्रति दूसरे की स्थिति को समझने के लिए एक सद्भाव हो सकता है दंड देने की कामना नहीं हो सकती वो जानेगा कि यही स्वाभाविक है जो हो रहा है इससे श्रेष्ठतर भी हो सकता है लेकिन स्वाभाविक की निंदा उसके मन में नहीं होगी श्रेष्ठतर का जन्म हो इसकी प्रार्थना होगी लेकिन स्वाभाविक की निंदा नहीं होगी मनुष्य के स्वभाव को निसर्ग को हम इंकार करते चले आ रहे हैं पांच हजार वर्षों से सब तरफ से हमने आदमी के स्वभाव को इंकार करके एक लोहे की कैद खड़ी कर दी है उस कैद के भीतर आदमी को खड़ा कर दिया है उसकी सारी मुक्ति छीन ली है क्योंकि उसका सारा स्वभाव छीन लिया है और आश्चर्य की बात यह है कि तथ्यों के इस अस्वीकार से तथ्यों के इस निषेध से तथ्यों से आंख चुरा लेने से तथ्य बदल नहीं गए हैं सिर्फ छिप गए हैं और उन्होंने भीतर से काम शुरू कर दिया वो अनकॉन्सियस हो गए हैं और जो तथ्य अचेतन में उतर जाते हैं अंधेरे में और वहां से काम करते हैं उनका काम और भी आत्मघाती हो जाता है मैंने सुना है एक माँ रात नींद में उठने की उसे आदत थी वो रात नींद में उठाई है और अपने मकान के पीछे के बगीचे में चली गई है वो सपने में है और नींद में ही जोर जोर से बोल रही है और अपनी जवान लड़की को गालियां दे रही है और कह रही है कि इसी दुष्ट के कारण मेरी जवानी नष्ट हो गई इस जवानी तो लड़की पर चली गई और मैं बूढ़ी हुई जा रही हूं तभी उसकी लड़की की भी नींद खुल गई है वो भी रात नींद में चलने की आदि है वो बगीचे में पहुंच गई है वो नींद में उस बुढ़िया को वहां देखती है आधी खुली आंखों से और सोचती है ये दुष्ट बुढ़िया यहां भी मौजूद है इसने मेरे जीवन को कांटा बना दिया है इसके मौजूद जब तक ये जिंदा है तब तक मुझे स्वतंत्रता नहीं मिल सकती तब तक मेरा जीवन एक परतंत्रता है वे दोनों नींद में एक दूसरे को गालियां दे रहे तभी मुर्गा बांग देता है दोनों की नींद खुल जाती सुबह की ठंडी हवा बूढ़ी कहती बेटी इतनी जल्दी उठाई सर्दी न लग जाए साल नहीं डाल दी है बेटी अपने मां के पैर छूती है और कहती मां भीतर चल सुबह बहुत सर्द है कहीं तुझे सर्दी जुकाम में पकड़ जाए नींद में वे क्या कह रही थी जागकर वे क्या कह रही है हम कहेंगे नींद नींद तो सपना थी झूठ थी जो जागकर कह रही वो सच बात उल्टी है जो जागकर वो कह रही वो झूठ है जो नींद में उन्होंने कहा था वो सच था हम यही सोचते हैं कि सपने में जो हम देख रहे हैं वो झूठ है लेकिन अब मनोविज्ञान कहता है कि सपने में जो आप देख रहे हैं वो जो जाग के आप देखते हैं वो उससे ज्यादा सत्यतर है क्योंकि सपने में वही प्रकट हो रहा है जिसे आपने भीतर छिपा लिया है बेटे बाप की हत्या कर रहे हैं सपने में सुबह उठ के कहते हैं अरे सपना था वो सब झूठ है लेकिन ऐसा बेटा खोजना मुश्किल है जिसने बाप की हत्या की कामना को कहीं अचेतन में छिपाना दिया हो आदमी सपने में पड़ोसी की स्त्री को लेकर भाग गया है सुबह उठ के कहता है ये सब क्या बातें हैं ये सब सपना है लेकिन पड़ोसी की स्त्री को लेकर भागने की अगर कोई कामना अचेतन में न दबा दी गई होती तो सपना आसमान से पैदा नहीं होता वो सपना भीतर से आया वो सपना कहीं छिपा है वो सपने को दबा दिया है उसने मौका पाया जब आप सो गए और आपका कंट्रोल ढीला हो गया नियंत्रण ढीला हो गया चित्त शिथिल हो गया तो वो जो भीतर दबा था वो प्रकट हो गया और चित्त के पर्दे पर चलने लगा सपने हमारे जागृत सत्य से ज्यादा सत्यतर हैं क्योंकि हमारे छिपे हुए मन को प्रकट कर रहे हैं साधु संन्यासियों के सपने देखिए तो वे वही होंगे जो अपराधियों ने जागने में किया है साधु संन्यासी सपनों में वही कर रहे हैं अपराधी तो देख सकते हैं सपने साधु होने के लेकिन साधु अपराधी होने के सपने देखते इसलिए साधु नींद लेने से डरते नींद में बहुत डर लगता है क्योंकि नींद में वो जो साधु 24 घंटे साधुता साथी है वो एकदम खो जाती मालूम पड़ती है समझ नहीं पड़ता कि क्या हो जाता है बिल्कुल उल्टा आदमी भीतर से प्रकट होने लगता है वो उल्टा आदमी कहीं आसमान से नहीं उतरता वो हमने दबाया है वो हमारा तथ्य है वो हमारा फैक्ट है वही हम हैं इस हमको इंकार करने का एक उपाय था जो हमने उपयोग किया भारत में और वो उपाय ये था भीतर हिंसा है बाहर पे अहिंसा ओढ़ लो भीतर हिंसा है पानी छान के पियो रात खाना मत खाओ भीतर हिंसा है मांसाहार छोड़ दो अहिंसक हो जाओगे अहिंसक होना इतनी सस्ती बात नहीं है कि कोई मांसाहार छोड़ने से अहिंसक हो जाए अहिंसक कोई हो जाए तो मांसाहार छूट सकता है वो दूसरी बात है लेकिन मांसाहार छोड़ने से कोई अहिंसक नहीं हो सकता कोई अहिंसक हो जाए तो कुछ चीजें छूट सकती हैं लेकिन कुछ चीजों के छूटने से कोई अहिंसक नहीं हो जाता हिंसा भीतर है तो ऊपर से अहिंसा का वर्तन व्यक्तित्व को दो हिस्सों में तोड़ देगा हिंसा भीतर सरकती रहेगी अहिंसा ऊपर घूमती रहेगी भीतर हिंसक आदमी तैयार रहेगा जरा छेड़ दो और प्रकट हो जाए जरा छेड़ दो और प्रकट हो जाए हिंदुस्तान में कितनी अहिंसा की बात गांधी जी ने और उनके साथियों ने की और आजादी आई और हिंसा में डूब गया पूरा मुल्क कोई दस लाख लोगों की हत्या हुई और करोड़ों लोगों को हत्या से भी ज्यादा दुख झेलना पड़ा ये कैसा देश है अहिंसा की बातें कर रहा था फिर एकदम हिंसा का ये उबाल कहां से आ गया ये कहां से पैदा हो गई वह हिंसा की बातें सब ऊपर थी भीतर हिंसा थी और हिंसा प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई मौका मिल जाए अभी हम यहां कितने अहिंसक भाव से बैठे हुए कोई किसी को मार नहीं रहा कोई किसी की गर्दन नहीं दबा रहा लेकिन अभी पता चल जाए बाहर कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया और आप बगल के आदमी की गर्दन दबा देंगे कि ये मुसलमान है कि ये हिंदू है मारो छोरा इसको ये आदमी अभी दोनों शांत बैठे थे धर्म की बातें सुनते थे गीता पढ़ते थे कुरान पढ़ते थे मस्जिद में हाथ जोड़े खड़े थे अचानक पता चला कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया यह आदमी बदल गए इनके भीतर का आदमी बाहर आ गया भीतर कौन बैठा हुआ है भीतर हिंसा बैठी हुई है भीतर घृणा बैठी हुई है भीतर क्रोध बैठा हुआ है भीतर जंगली जानवर बैठा हुआ है और उस जंगली जानवर को हम ऊपर अच्छे अच्छे शब्दों के वस्त्र अच्छे अच्छे आदर्शों के वस्त्र ओढ़ के छिपा रहे हैं ये काम चलाऊ व्यवस्था है ये व्यवस्था बहुत महंगी है ये धोखे की व्यवस्था है जिंदगी भी गुजर सकती है और पता ना चले कि भीतर कौन था और भारत ने इसी तरह पांच हजार वर्ष की एक पाखंडी संस्कृति खड़ी की जिस संस्कृति ने ऊपर से चीजें थोप ली हैं और भीतर का आदमी नहीं बदला है निश्चित ही इस तरह की जबरदस्ती थोपी गई व्यवस्था प्रतिभा के विकास में अवरोध बनेगी प्रतिभा के लिए चाहिए इंटीग्रेशन व्यक्तित्व एक हो इकट्ठा हो और हमने व्यक्तित्व को तोड़ दिया दो टुकड़ों में और विरोधी टुकड़ों में हमने एक एक व्यक्ति की शक्ति को दो हिस्सों में बांट दिया और दोनों हिस्सों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया व्यक्ति स्वयं से लड़के ही नष्ट हो जाता है उसके पास इतनी ऊर्जा इतनी एनर्जी इतनी शक्ति नहीं बच पाती कि वो कुछ और क्रिएट कर पाए वो कुछ और सृजन कर पाए इसलिए भारत पूरा का पूरा अनक्रिएटिव हो गया है असर्जनात्मक हो गया है हम विध्वंस ही कर सकते हैं क्योंकि हमें हमने जो अपने भीतर किया है वही हम बाहर कर सकते हैं हम लड़ ही सकते हैं हिंदू मुसलमान से लड़ सकता है मराठी गुजराती से लड़ सकता है हिंदी बोलने वाला गैर हिंदी बोलने वाले से लड़ सकता है हिंदू मुसलमान से लड़ सकता है हम सिर्फ लड़ ही सकते हैं क्योंकि भीतर हम अपने से ही लड़ने की शिक्षा लिए हम अपने से ही लड़ते रहे हम भीतर ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बटे हुए एक एक आदमी अपने भीतर ही टुकड़ों में बटा हुआ है भारत के पास इकहरा व्यक्तित्व जिसको हम व्यक्तित्व कहें इंडिविजुअलिटी कहें इंडिविजुअलिटी कहें जुड़ा हुआ एक आदमी नहीं है और एक आदमी जुड़ा हुआ ना हो तो खुद के खंड आपस में लड़के शक्ति को नष्ट कर देते हैं और शक्ति नष्ट हो जाए तो प्रतिभा कैसे विकसित हो और प्रतिभा ना हो तो समस्याओं का समाधान कौन देगा कौन भगवान कौन देवता कौन वेद कौन ऋषि कौन मुनि देगा समाधान हमें लाने अपनी ही प्रतिभा से और हमारी प्रतिभा छीन छीन खंड खंड होकर बह गई अगर भारत को प्रतिभा को जन्म देना है अगर भारत को अपनी छुपी हुई ऊर्जा को पूरी अभिव्यक्ति देनी है तो ये तीसरा सूत्र ख्याल में रख लेना जरूरी है और वो ये आदर्शों की बकवास बंद करो आदमी का जो तथ्य है यथार्थ है वो जो वस्तुतः आदमी है उसे पहचानो लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि मैं ये कह रहा हूं कि हिंसक हो जाओ क्रोधी हो जाओ घृणा से भर जाओ पशु हो जाओ नहीं बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि इसे जितना हम पहचानेंगे उतनी ही पहचान के द्वारा इसमें रूपांतरण और परिवर्तन शुरू होते हैं अगर कोई आदमी अपने भीतर देख ले कि उस उस दिशा में उसके भीतर पशु है सिर्फ देख ले कुछ और करना नहीं है पहचान ले कि मैं इस दिशा में पशु हूं और परिवर्तन शुरू हो गया पहचानते ही परिवर्तन शुरू हो गया जैसे ही मैंने ये पहचाना कि मेरी ये घृणा मेरा ये प्रेम मेरा ये क्रोध मेरी ये मालकियत मेरा ये डोमिनेशन एक पशु का हिस्सा है सुना हुआ नहीं किसी और का कहा हुआ नहीं मैंने अपने भीतर पहचाना मैंने अपने भीतर खोज की कि ये मेरा पशु है और मैं आपसे कहता हूं ये पहचान ये रिकग्निशन ये प्रतिभिज्ञा कि मैंने पहचाना कि ये पशु है और मेरे भीतर परिवर्तन की शुरुआत हो गई क्योंकि कोई भी पशु नहीं रह सकता है नहीं रहना चाहता है पशु हम तभी तक रह सकते हैं जब तक पशु अनजान हो अननोन हो अनरिकग्नाइज हो पहचाना ना गया हो जाना ना गया हो आंख की रोशनी उस पर ना पड़ी हो तभी तक हम पशु रह सकते हैं और हमारे आदर्शवाद ने ये काम पूरा कर दिया आदर्श पर हमारी आंख लगी है आदर्श पर जो हम नहीं है और जो हम हैं वहां से आंख हट गई है हम देख रहे हैं आदर्श पर आगे भविष्य में कल परसों अहिंसक हो जाऊंगा मैं और हिंसा हिंसा बिना देखी भीतर काम कर रही आज नहीं कल परमात्मा हो जाऊंगा मैं आज नहीं कल इस जन्म में अगले जन्म में मोक्ष मिल जाएगा नजर वहां लगी है भविष्य पर और जो मैं हूं वहां से नजर हट गई है जहां से नजर हट गई है वहां अंधेरा हो गया जहां अटेंशन नहीं है ध्यान नहीं है वहां अंधकार हो गया और जहां अंधकार हो गया वहां रूपांतरण कैसे होगा बदलाव कैसे होगी आंख ले जानी है वहां जहां मैं हूं जो मैं हूं लेकिन एक ही कठिनाई है वही कठिनाई रोकती है स्वयं को देखने से और वो कठिनाई ये है कि स्वयं को देखना बहुत कष्टपूर्ण बहुत तपश्चर्यापूर्ण है क्योंकि हमने अपने अहंकार में अपनी एक प्रतिमा बना रखी है जो बड़ी सुंदर है और हम बड़े कुरूप हैं हम बहुत अगली हैं और प्रतिमा हमने बड़ी सुंदर बना रखी है उस प्रतिमा को देख के दिखाने के हम आदि हो गए हमारे अहंकार ने कहा है कि यही मैं हूं अब उस प्रतिमा को तोड़ना पड़ेगा अगर भीतर असली कुरूपता को देखने जाना है इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हम इसको ही मैं तपश्चर्या कहता हूं स्वयं निर्मित अपने ही अहंकार की प्रतिमाओं के खंडन का नाम तपश्चर्या है उस ज्यादा आर्डुअस उस ज्यादा श्रमपूर्ण उस ज्यादा कठिन और कुछ भी नहीं है अपनी ही प्रतिमाओं को अपने हाथ से गिरा देना और उसे देखना जो मैं वस्तुता हूं जो मेरी कल्पना नहीं जो मेरा आदर्श नहीं जैसा मैं हूं कैसा हूं मैं उसे देख लेना उसकी नग्नता में पहचान लेना क्रांति की शुरुआत है बदलाहट की शुरुआत है और जैसे ही कोई व्यक्ति अपने भीतर स्वयं को देखने जाता है वैसे ही एक नए व्यक्ति का जन्म शुरू हो जाता है एक नया व्यक्ति पैदा होने लगता है ये जो नया व्यक्ति है शक्तिशाली होगा क्योंकि शक्ति आपस में बटेगी नहीं ये नया व्यक्ति बुद्धिमान होगा क्योंकि इसने बुद्धि का प्रयोग किया है बुद्धि विकसित होगी ये नया व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा क्योंकि इसने चुनौती को स्वीकार किया है चुनौती का सामना किया है और चुनौती के ऊपर उठ गया है प्रतिभा का जन्म एक आत्मज्ञान का परिणाम है और हम आत्म अज्ञान में जी रहे हैं यद्यपि हम आत्मज्ञान की सर्वाधिक बातें करते हैं लेकिन आत्मज्ञान से हमने मतलब समझ रखा है उपनिषद पढ़ो गीता पढ़ो गीता उपनिषद के वचन कंठस्थ कर लो और सुबह आंख बंद करके उनको दोहराते रहो दोहराते रहो कि हम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं मैं सदा सचित ब्रह्म हूं परमात्मा हूं प्रभु हूं शुद्ध बुद्ध हूं ये दोहराते रहो अपने भीतर इसको रिपीट करते रहो इसको दोहराते रहो दोहराते दोहराते धीरे धीरे ये विश्वास बैठ जाएगा कि मैं यही हूं लेकिन ये विश्वास धोखा होगा दोहरा के कोई सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता नहीं मैं ब्रह्म हूं ये दोहराने से कोई ब्रह्म नहीं हो जाएगा मैं जो हूं उसे जानने से पहचानने से उसके रूपांतरण से उसकी बदलाहट से उसकी क्रांति से व्यक्ति ब्रह्म के द्वार तक पहुंचता है मनुष्य परमात्मा हो सकता है है नहीं संभावना है उसकी पोटेंशियलिटी है लेकिन है वो पशु पशुता तथ्य है परमात्मा होना बीज के भीतर से वृक्ष के आने की जैसी संभावना है और अगर कोई बीज अपने को मान के बैठ जाए कि मैं वृक्ष हूं तो वो बीज कभी वृक्ष नहीं हो सकता हम अपने को मानकर बैठ गए हैं कि हम परमात्मा हैं इसलिए हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं पशु ही रह जाते हैं इस पशुता को पहचानना जानना खोजना साधना है तपश्चर्या है अपनी ही निर्मित अपनी ही झूठी प्रतिमाओं को तोड़ देना त्याग है तप है और इस तप से जो गुजरता है वो एक नए व्यक्तित्व को उपलब्ध हो जाता है जहां प्रतिभा अपनी पूरे प्रकाश में प्रकट होती भारत की प्रतिभा प्रकट हो सकती है लेकिन आदर्श के पाखंड छोड़ देने होंगे टाइनबी ने कहा है कि पश्चिम की संस्कृति सेंसेट कल्चर है एंद्रिक संस्कृति है टाइनबी को शायद ये भ्रम हो कि पूरब की संस्कृति स्पिरिचुअल है तो टाय नबी को अपना भ्रम ठीक कर लेना चाहिए पश्चिम की संस्कृति ऐन्द्रिक है ये बात टाय नबी की हिंदुस्तान के साधु सन्यासी लोगों को समझाते हैं कि देखो पश्चिम के लोग खुद कह रहे हैं कि पश्चिम की संस्कृति ऐन्द्रिक है हमारी आध्यात्मिक है मैं आपसे कहना चाहता हूं पश्चिम की संस्कृति सेंसेट है और हमारी संस्कृति हिपोक्रेट है उनकी संस्कृति ऐन्द्रिक है और हमारी संस्कृति पाखंडी है और मैं आपसे कहता हूं इंद्रिक संस्कृति कभी ना कभी आध्यात्मिक बन सकती है क्योंकि इंद्रिय एक सत्य है लेकिन पाखंडी संस्कृति कभी भी आध्यात्मिक नहीं बन सकती क्योंकि पाखंड एक झूठ है स्वनिर्मित झूठ है मनुष्य के तथ्य का स्वीकार मनुष्य के सत्य तक ले जाने की राह है अगर हम मनुष्य के सत्य तक पहुंचना चाहते हैं तो मनुष्य के तथ्य को हमें परिपूर्ण स्वीकृति देनी जरूरी है वो कितना ही नग्न हो वो कितना ही कुरूप हो वो कितना ही बेहुदा हो उसे हम अंगीकार न करें आंख चुराएं तो हम भटक जाते हैं हम भटक गए हैं इन तीन दिनों में इन तीन सूत्रों में पलायन से परंपरा से और आदर्श से इन तीन से मुक्त होने के लिए मैंने कहा अगर ये तीन पत्थर हट जाएं तो भारत की प्रतिभा का स्रोत मुक्त हो जाए वो भारत की सरिता सागर की तरफ दौड़ने लगे लेकिन अगर ये तीन पत्थर भारत की प्रतिभा की सरिता को रोके रहे तो हम एक डबरा बन गए हैं जो दौड़ता नहीं चलता नहीं कहीं पहुंचता नहीं सड़ता है सड़ता जाता है गंदगी बढ़ती चली जाती है रोग बढ़ता चला जाता है बीमारी घाव पड़ते चले जाते हैं मवाद इकट्ठी होती चली जाती है दुर्गंध फैलती चली जाती है और हम आंख बंद करके सबको माया माया झूठ है झूठ है आंख बंद करके अपने को संतोष खोजते रहते हैं इस संतोष से नहीं हो सकता है तोड़ना पड़ेगा इस धारा को इसे सागर की ओर उन्मुख करना पड़ेगा ताकि एक दिन मनुष्य पशु से उठे और परमात्मा तक पहुंच जाए परमात्मा का मंदिर निकट है लेकिन पशु को भुलाकर झुठलाकर नहीं पशु को जानकर पहचान कर ट्रांसेंडेंस से उसके अतिक्रमण से और ज्ञान अतिक्रमण का मार्ग है जानना अतिक्रमण का ट्रांसेंडेंस की विधि है अज्ञान आत्मघात है ज्ञान आत्मक्रांति है मेरी बातों को शांति और प्रेम से सुना